Amén. जाएंगे कोई गिरे किसी के ऊपर न गिर जाए खड़े होने पर बहुत जोर से क्रिया होगी शरीर पूरा नाचने लगेगा आनंद मग्न होकर इसलिए पास कोई बैठा हो वो हट जाए जो मित्र खड़े हैं उनके आसपास थोड़ी जगह छोड़ दें शीघ्रता से और पूरा साहस करना है जरा भी अपने भीतर कोई कमी नहीं छोड़ने आंख बंद कर ले गहरी श्वास लेना शुरू करें गहरी श्वास लें और गहरी श्वास छोड़ें और भीतर देखते रहे श्वास आई श्वास गई गहरी श्वास लें गहरी श्वास छोड़ गहरी श्वास लें गहरी श्वास छोड़ गहरी श्वास लें गहरी श्वास गहरी श्वास लें गहरी श्वास शक्ति पूरी लगाएं दस मिनट के लिए गहरी श्वास लें गहरी गहरी श्वास छोड़ो गहरी श्वास लें गहरी श्वास छोड़ें पूरी शक्ति लगाएं गहरी श्वास लें गहरी श्वास छोड़ें और भीतर देखते रहें शक्ति लगा दे एक दस मिनट पूरी शक्ति लगा दे गहरी श्वास गहरी श्वास गहरी श्वास गहरी श्वास गहरी श्वास गहरी श्वास गहरी श्वास गहरी श्वास गहरी श्वास भीतर देखते रहे श्वास आई श्वास गई शक्ति पूरी लगा दें कुछ भी बचाए नहीं शक्ति पूरी लगा दें गहरी श्वास गहरी श्वास गहरी श्वास गहरी श्वास शरीर एक ऊर्जा का पुंज मात्र रह जाएगा श्वास ही श्वास रह जाएगी शरीर एक विद्युत बन जाएगा गहरी श्वास गहरी श्वास गहरी श्वास गहरी श्वास गहरी श्वास गहरी श्वास कोई पीछे न रहे पूरी शक्ति लगा दें गहरी श्वास गहरी श्वास गहरी श्वास <laughs> गहरी श्वास गहरी श्वास गहरी श्वास पांच मिनट बचे हैं पूरी शक्ति लगाएं फिर हम दूसरे सूत्र में प्रवेश करेंगे गहरी श्वास गहरी श्वास गहरी श्वास गहरी श्वास गहरी श्वास गहरी श्वास शरीर सिर्फ एक यंत्र रह जाए श्वास लेने का यंत्र मात्र रह जाए सिर्फ श्वास ही रह जाए गहरी श्वास गहरी श्वास गहरी श्वास गहरी श्वास पूरी शक्ति लगा दें गहरी श्वास पूरी शक्ति लगा दें गहरी श्वास गहरी श्वास सिर्फ श्वास ही रह गई है सिर्फ श्वास ही रह गई है कमजोरी ना करें रुके ना ताकत पूरी लगा दें कुछ बचाए ना ताकत पूरी लगा दें पूरी लगा दें शक्ति पूरी लगा दें शक्ति पूरी लगा दें शक्ति पूरी लगा दें पीछे ना रुकें पीछे ना रुकें ये पूरा वातावरण चार्ज हो जाएगा शक्ति पूरी लगा दें घटना घटेगी ही शक्ति पूरी लगा दें गहरी श्वास और गहरी श्वास और गहरी श्वास और गहरी श्वास और गहरी श्वास और गहरी श्वास शक्ति पूरी लगाएं देखें रुके ना मैं आपके पास ही आके कह रहा हूँ शक्ति पूरी लगा दें पीछे कहने को न हुआ कि नहीं हुआ पूरी शक्ति लगाएं पूरी शक्ति लगाएं पूरी शक्ति लगाएं पूरी शक्ति लगाएं गहरी श्वास और गहरी और गहरी जितनी गहरी श्वास होगी सोई हुई शक्ति के जगने में सहायता मिलेगी कुंडलनी ऊपर की ओर उठने लगेगी गहरी श्वास लें गहरी श्वास लें गहरी श्वास लें गहरी श्वास लें कुंडलनी ऊपर की ओर उठनी शुरू होगी गहरी श्वास लें शक्ति ऊपर उठने लगेगी गहरी श्वास लें गहरी श्वास लें दो मिनट बचे हैं पूरी ताकत लगाएं गहरी श्वास गहरी श्वास कुंडलनी उठने लगेगी गहरी श्वास लें गहरी श्वास लें गहरी श्वास लें गहरी श्वास लें गहरी श्वास लें गहरी श्वास लें जितनी गहरी ले सकें लें दो मिनट बचे हैं पूरी ताकत लगाएं फिर हम दूसरे सूत्र में प्रवेश करेंगे गहरी श्वास गहरी श्वास भीतर कुछ उठ रहा है उसे उठने दे गहरी श्वास गहरी श्वास गहरी श्वास गहरी श्वास गहरी श्वास एक मिनट बचा है पूरी शक्ति लगाएं फिर हम दूसरे सूत्र में जाएंगे गहरी श्वास ताकत पूरी लगा दें ताकत पूरी लगा दें ताकत पूरी लगा दें भीतर शक्ति उठ रही है छोड़े नहीं अपने को ताकत पूरी लगा दें गहरी और गहरी और गहरी और गहरी कून पड़े पूरी ताकत लगा दें सारी शक्ति लगा दें गहरी गहरी गहरी श्वास गहरी श्वास गहरी श्वास गहरी श्वास श्वास की चोट होने दें भीतर सोई हुई शक्ति उठेगी गहरी श्वास गहरी श्वास गहरी श्वास गहरी श्वास गहरी श्वास अब दूसरे सूत्र में जाना है गहरी श्वास और गहरी आपसे ही कह रहा हूं ताकत पूरी लगा दें और गहरी और गहरी और गहरी और गहरी और गहरी दूसरे सूत्र में प्रवेश कर जाएं सांस गहरी रहेगी शरीर को छोड़ दें शरीर को जो भी होता है होने दें शरीर रोए रोने दें हंसे हंसने दें चिल्लाए चिल्लाने दें शरीर नाचने लगे नाचने दें शरीर को जो होता है होने दें शरीर को छोड़ दें आप शरीर को जो होता है होने दें शरीर को छोड़ दें बिल्कुल जो होता है होने दें शरीर के अंगों में जो होता है होने दें शरीर को छोड़ दें दस मिनट के लिए शरीर को होने दें जो होता है शरीर को छोड़ दें पूरी तरह छोड़ दें शरीर नाचेगा कूदेगा छोड़ दें भीतर शक्ति भीतर शक्ति उठेगी शरीर नाचेगा कूदेगा छोड़ दें शरीर को बिल्कुल छोड़ दें जो होता है होने दें शरीर को छोड़ दें श्वास गहरी रहे शरीर को छोड़ दें भीतर शक्ति जागेगी शरीर नाचने लगेगा कूदने लगेगा कपने लगेगा जो भी होता है होने दें शरीर लौटने लगे चीखने लगे हंसने लगे छोड़ दें शरीर को पूरी तरह छोड़ दें ताकि अलग दिखाई पड़ने लगे मैं अलग हूं शरीर अलग है शरीर को छोड़े शरीर को छोड़े शरीर को बिल्कुल छोड़ दो छोड़े शरीर को छोड़ दें शरीर एक विद्युत का यंत्र भर रह गया है शरीर नाच रहा है शरीर कूद रहा है शरीर कप रहा है शरीर को छोड़ दें शरीर रो रहा है शरीर हंस रहा है शरीर को छोड़ दें आप शरीर से अलग हैं शरीर को छोड़ दें शरीर को जो होता है होने दें है होने शरीर को बिल्कुल थका डालना है सहयोग करें शरीर को छोड़ दें सहयोग करें जो होता है होने दें शरीर को थका डालना है छोड़ दें बिल्कुल छोड़ दें जो होता है होने दें छोड़े छोड़े रोके नहीं देखें कोई रोके नहीं छोड़ दें बिल्कुल छोड़ दें शरीर को जो होता है होने दें होने दें होने दें छोड़ दें पांच मिनट बचे हैं शरीर को पूरी तरह छोड़ दें सहयोग करें शरीर को जो हो रहा है कोऑपरेट करें शरीर जो कर रहा है उसे करने दें रोना है रोए हंसना है हंसे रोके नहीं शरीर नाचने लगेगा नाचने दें शरीर उछलने लगे उछलने दें तरह छोड़े सहयोग करें भीतर शक्ति उठ रही है उसे छोड़ दें पांच मिनट बचे हैं पूरी तरह छोड़े शरीर को पूरी तरह छोड़े छोड़े पूरी तरह छोड़े पूरी तरह छोड़ दें शरीर को जो हो रहा है होने दें मिनट बचे हैं शरीर को पूरी तरह छोड़ दें शरीर अलग है आप अलग है शरीर को जो होना है होना है आप अलग हैं दो मिनट के लिए पूरी तरह छोड़ें फिर हम दूसरे सूत्र में चलेंगे छोड़ें छोड़ें बिल्कुल छोड़ दें शरीर को थका डालें छोड़े छोड़े छोड़े गहरी श्वास लें शरीर को छोड़ दें शरीर नाचता है नाचने दें बिल्कुल छोड़ दें आप अलग हैं तीसरे सूत्र में चलने के पहले पूरी शक्ति लगा दें शरीर को छोड़े छोड़े एक मिनट बचा है पूरी तरह छोड़े पूरी तरह छोड़े पूरी तरह छोड़े जो होता है होने दो एक मिनट बचा है पूरी तरह छोड़े पूरी तरह छोड़ दें जो होता है होने दें एक मिनट के लिए सब छोड़ दें छोड़ें बिल्कुल छोड़ दें शरीर को बिल्कुल नाचने दें छोड़ दें चिल्लाने दें रोने दें हंसने दें छोड़ दें शरीर जो कर रहा है करने दें साफ दिखाई पड़ेगा आप अलग हैं शरीर अलग है पूरी तरह छोड़े फिर तीसरे सूत्र में प्रवेश करें छोड़े छोड़े छोड़े सहयोग करें शरीर को छोड़ दें और अब तीसरे सूत्र में प्रवेश कर जाएं भीतर पूछे मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूँ दस मिनट तक शरीर नाचता रहे श्वास गहरी रहे और भीतर पूछे मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ पूरी ताकत लगा दे मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ क्या कर बैठे जल्दी करो भाई चक्कर जल्दी करवाए उसको बराबर आ नहीं मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ कौन मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ पूरी तरह पूरी ताकत से पूछे मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ शक्ति पूरी लगा दे शक्ति पूरी लगा दे नहीं एटलीस्ट नहीं आ रहा मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ शक्ति पूरी लगाए मैं कौन हूँ हूं मैं कौन हूं पूरी शक्ति लगाए पूरी शक्ति लगाए मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूं तीन मिनट बचे हैं फिर हम विश्राम करेंगे अपने को थका डालें भीतर शक्ति उठ रही है मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूं शक्ति पूरी लगाएं मैं कौन हूं दो मिनट बचे हैं शक्ति पूरी लगाए मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूं फिर हम विश्राम करेंगे मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ शक्ति भीतर जाग रही है शरीर को नाच जाने दे मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ शक्ति भीतर पूरी जग जाने दे मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ बिल्कुल पागल हो जाए मैं कौन हूँ डालें अपने को फिर विश्राम करना है मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूं एक मिनट और मैं कौन हूं शरीर नाचता है नाच जाने दे मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूं फिर विश्राम में जाना है पूरी ताकत लगा दें आखिरी क्षण में पूरी ताकत लगा दे मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूं अवसर न खोए पूरी ताकत लगा दे मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूँ आखिरी ताकत फिर विश्राम में जाना है मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ बस सब छोड़ दे न छोड़ दे श्वास लेना छोड़ दे जो जहाँ पड़ा है पड़ा रह जाए जो जहाँ खड़ा है खड़ा रह जाए गिरना हो गिर जाए लेटना हो लेट जाए बैठना हो बैठे रह जाए

की इच्छा अब चुप हो जाता दस मिनट लग जैसे मरती गए जैसे मिठी गए तूफान गया शांति छूट गई प्रतीक्षा करें प्रतीक्षा करें इसी क्षण में कुछ घटित होता है मौन प्रतीक्षा करें मौन प्रतीक्षा करें सुन हो गए सब सुन हो गए प्रतीक्षा करें Grazie. Ecco. जैसे मर ही गए लेकिन भीतर कोई जागा हुआ Gracias. जैसे मर ही गए जैसे मिट गए सब शून्य हो गया इसी शून्य में उसका दर्शन इसी शून्य में उसकी झलक इसी शून्य में उसकी उपलब्धि है प्रतीक्षा करें प्रतीक्षा करें प्रतीक्षा करें देखें भीतर कोई प्रवेश करा देखें भीतर कोई जग गया देखें भीतर कोई आनंद भर गया आनंद जो कभी नहीं जाना आनंद जो अपरिचित है आनंद जो अज्ञात है प्राण के पोर पोर में कुछ भर गया आनंद ही आनंद से रह जाता है प्रकाश ही प्रकाश से रह जाता है शांति ही शांति से रह जाता है प्रतीक्षा करें प्रतीक्षा करें इन्हीं मौन क्षणों में आगमन है उसका इन्हीं मौन क्षणों में मिलन है उससे प्रतीक्षा करें प्रतीक्षा करें जिसकी खोज है वो बहुत पास है जिसकी तलाश है इस समय बहुत निकट है जिसकी खोज है वो बहुत पास है जिसकी तलाश है वो बहुत निकट है प्रतीक्षा करें प्रतीक्षा करें धीरे धीरे भीतर के इस जगत से वापस लौट आए बहुत आहिस्ता आहिस्ता कोने आंख न खुलती हो तो दोनों हाथ आंख पर रख लें फिर धीरे धीरे खोलें और जल्दी कोई भी नहीं करे जो गिर गए हैं उठ न सके वे धीरे धीरे दो चार गहरी सांस लें फिर आहिस्ता आहिस्ता उठे बिना बोले बिना आवाज किए चुपचाप उठे जो खड़े हैं वे चुपचाप बैठ जाए धीरे धीरे खोल ले वापिस लौटा